एक बच्चा 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ बचपन में ही उसके माँ बाप की डिवोर्स हो गई और वो एक बहुत ही बुरे फेज से गुजरता रहा उसको बचपन में बुली किया जाता था और उसको स्कूल की फीस पे करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की तख्लीक करनी पड़ी एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा जो उसने 500 डॉलर का एक कंपनी को सेल किया यहां से इस बच्चे का बिजनेस करियर का आगाज हुआ कॉलेज खत्म करने के बाद 1995 में इस शख्स ने बाप से मिलने वाली विरासत से एक छोटी सी कंपनी का आगाज़ किया जिप टू के नाम से जो एक सिटी गाइड थी इस कंपनी को बहुत जल्द पब्लिक कर दिया गया और इसको द न्यूयॉर्क टाइम और बहुत से बड़े मैगजीन से कॉन्ट्रैक्ट मिल गए फिर इस कंपनी को कॉम्पैक्ट ने एक्वायर कर लिया 307 मिलियन डॉलर का जिसमें से उस शख्स को 22 मिलियन डॉलर उसका हिस्सा मिला यहां से इस शख्स का नाम दुनिया पे उभरना शुरू हुआ इस शख्स का नाम था एलन मस्क उस मिलने वाले पैसे से एलन मस्क ने एक और नई कंपनी का आगाज किया जिसका नाम था एक्स डॉट कॉम ये बेसिकली फाइनेंशियल कंपनी थी जो पेमेंट्स को डील करती थी इस कंपनी की तरक्की देखते हुए एक कंपनी कन्फिनिटी ने इसको एक्वायर कर लिया और फिर इन दोनों कंपनीज ने बुनियाद रखी पेपॉल की पेपॉल पेमेंट मेथड वायरल हो गया और लोगों में बहुत जल्दी मशहूर हो गया ठीक तीन साल बाद ई ने पेपॉल को खरीद लिया 1.5 बिलियन डॉलर्स का जिसमें से एक मिलियन डॉलर एलन मस्क के हिस्से में आया उस पैसे से एलन मस्क ने एक और कंपनी जो स्पेस के बारे में रिसर्च करती थी जिसका नाम था स्पेस एक्स उसमें फंडिंग की और फिर उसके सीईओ बन गए स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जिसका रॉकेट दुनिया के ऑर्बिट से बाहर गया एलन मस्क का गोल है कि एक दिन वो आम लोगों को मार्स की सैर करवाना चाहता है बात यही ख़त्म नहीं हुई एलन मस्क ने एक और कंपनी टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती थी ये कंपनी बहुत अच्छे फाइनेंशियल हालात से नहीं गुजर रही थी मगर एलन मस्क की इन्वॉल्वमेंट के बाद इस कंपनी को तरक्की का बूम मिला टेस्ला मोटर्स अब दुनिया की जानी मानी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई एलन मस्क ने एक और कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम है सोलर सिटी जो अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर पावर प्रोवाइडर कंपनी है बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई एलन मस्क ने एक और कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम है हाइपर लूप जिसका मकसद है कि बहुत ही हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन बनाई जाए डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान और पिछले साल एलन मस्क ने ओपन ए के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की बुनियाद रखी जो ओपन सोर्स है कोई भी डेवलपर अपनी रिसर्च के लिए इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है एलन मस्क को इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं कि अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो छोटा सा रिकैप करते हैं एलन मस्क इस वक्त स्पेस एक्स के सीईओ हैं टेस्ला मोटर्स के सीईओ हैं सोलर सिटी के चेयरमैन हैं और ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चेयरमैन हैं इनकी वर्थ 12 बिलियन डॉलर्स है तो अगर आप कोई जॉब या कोई बिजनेस करते हैं और आपको किसी और एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता या आपका ये बहाना है कि आपको टाइम नहीं मिलता तो दोबारा अपनी रूटीन के बारे में सोचिए